मन्दोदरे बचन सुनिकाना सुरमुन से धन सुखमाना माना अज महेशना रदसन का दे जे मुनि बर पर मारथ हरिलोचन लोचन रघु पति निहारे प्रेम मगन सब सुखारी रुदन करत दे, सब नारे गु विभीषण मन दुख भार मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना ब्रह्मा महादेव नारद और संगादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए अपने घर के सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए बंधु दशा बिलो के दुख की तब प्रभु अनुजहे आय सुधीराम लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझायो बहुरे विभीषण प्रभु पहि आयो कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिरो करहु क्रिया परी हरि सब का जिन्ह क्रिया प्रभु किन्ह क्रिया प्रभु आय सुमानी विधिवत देश काल जी जानी प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बनाओ लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधिपूर्वक सब क्रिया की मंदोदरे आदि सब दे तिलांजलिता भवन गए रघुपति गुण गण बरनत मन माहि मंदोदरी आदि सब स्त्रियाँ उसे रावण के तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करते ही महल को गई आय विभीषण पुरी सिर नायो कृपा सिन्धु तब अनुज बोरायोम कृपि सय गदनल नीला जामवन्त मारुति नय सब मिल जाहु सारे हु तिलक कहे रघुनाथा तब चन मैं नगरन आवऊँ आप सरिस कपि अनुज पठाव सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव अंगद नल नील जाम्बवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ तुरत चले कपि सुन प्रभु बचना के जाय तिलक की रचना सादर सिंहासन बैठारे तिलक सारे स्तुति अनुसारे जोरी पान सब ही नाये सहित विभीषण प्रभु पही आए तब रघुबीर बोल कपिले कही प्रिय बचन सुखी सबकी है प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया किए सुखी कही बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिपिहयो पायो विभीषण राजतिहुपुर जसु तुम्हारो नित नयो मुहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जुगाई है संसार सिंधु पार पार प्रयास बिनु नर पाई है भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे प्रभु के वचन श्रवण सुने नहीं अघाय कपि कुंज नहीं अघाय कपि पुंज बार बार सिर नाम है गहि सकल पद कंज प्रभु के वचन श्रवण सुने नहीं अघाहि कपि पुंज बार बार सिर नावहे गहि सकल पद कंज प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं